तंगा चुके हैं कशे जिंदगी से हम तंगा चुके हैं कशे जिंदगी से हम ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बे जी जनाब खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है कोई खुशी का गीत सुनाइए हम गम जदा है लाए कहां से खुशी के गीत कहां से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम उभरेंगे एक बार अभी दिल के वले अभी दिल के वले माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम लो आज हमने तोड़ दिया लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद रिश्ता उम्मीद लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम